मांडव्य उपनिषद गौड़पादीय कारिका सहित गौड़पादीय कारिका सहित मांडव्य उपनिषद जो अथर्वेद के ब्राह्मण भाग का है कुछ लोग इसको मुंडक शाखा का ही मानते हैं और कुछ लोग कहते नहीं नहीं एक मांडव की शाखा ही अलग है मांडव की शाखा का ही है उपनिषद है हाँ। और जितनी उपनिषदें हैं प्रसिद्ध उनमें से सबसे छोटी उपनिषद है केवल बारह मंत्र बारह ही और उस पर 215 कारिकाएं गौड़पादाचार्य जी का और एक ऐसा लघुकाय उपनिषद होता हुआ भी वास्तविकी वेदांत सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला एकमात्र उपनिषद यही है अजातवाद को स्थापित करने वाला उपनिषद है तो वास्तविक शुद्ध अद्वैत है जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है केवल परिकल्पना मात्र ही है इस बात को दृढ़तया स्थापित करने वाले बारह मंत्र है इस उपनिषद को बारे में तो राम जी इतने गुणगान गाए हैं हनुमान जी को बताते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया मांडव एकम एक फलम और नाम विमुक्त है मुक्ति का उपनिषद एक उपनिषद है प्रथम अध्याय के सोलवे मंत्र वाले कर रहे हैं मांडुक्यम एकमेव अलम मांडुक्य एकमात्र परिषद पर्याप्त है किन के लिए मोक्षों का विमुक्ति के लिए इसलिए यदि मांडव्य परिषद को समय प्रकार से आप समझें समय श्रवण हो विधिवत और उसका मरण हो जाए तो निश्चित रूप से जो है मुक्ति हाथ में है कमा कराम कैसे कहते और इसमें आप देखेंगे इस उपनिषद के ऊपर जो लिखी हुई कारिकाएं चार प्रकरण में विभक्त है पहला प्रकरण का नाम आगम प्रकरण कहा जाता है जिसमें उनतीस कारिकाएं हैं मैंने आगम प्रधान जिसे इस बारह मंत्रों पर ही विशेष विवेचन किया गया दूसरे प्रकरण आता है वही तथ्य प्रकरण मिथ्यात्व प्रकरण जिसमें अड़तीस कारिकाएं तीसरे में जब मिथ्या है तो तत्व तो क्या रह गया कहते अद्वैत रह गया अद्वैत सिद्धि प्रकरण तीसरा है जिसमें अड़तालीस कारिकाएं हैं और अंत में आता है अनाथ शांति प्रकरण जिसमें एक सौ पूरी कारिकाएं हैं एक सौ कारिका लेकिन तीनों प्रकारों में कहे बात के एक तरह से उपसंहार करके विस्तार से समझाने की कोशिश किया गया है हालात को दृष्टांत बना करके जैसे कि आप देखे होंगे सड़कों के ऊपर जो बाजा बजाते और हल्ला करते हुए एक खेल दिखाते हैं तार पर चल रहे हैं बांस पर खड़े हो जा रहे हैं कितनी क्या क्या करते हैं बड़े विशेष वो लोग ज्यादा बात दिखाते हैं एक लोहे का तार को गोल आकार में मोड़ के रखे हुए होते हैं उसके एक किनारे में उन्होंने कुछ कपड़े बांध देते हैं उसमें तेल तो लगा दिया और उसमें आग लगा दिया और आग तो एक किनारे में होता है लेकिन उसे जब घुमाते इस तरह से क्या आपको लगता है आग का एक चक्र बन गया और उसके बीच में से कुत्ता उड़ रहा है बिल्ली उड़ रहा है आदमी चला जाता है सब कुछ दिखाते हैं और किसी को आग जलाता ही नहीं कारण क्या है बीच में आग है ही नहीं जब वो घुमाते इस तरह से वो हवा कारण से आग का लहर बाहर की ओर होता है और उस है ही एक किनारे में हो एक ही जगह है पूरे में तो है नहीं लेकिन आपको पूरे में है करके भ्रांति होती है उसी को दृष्टांत बना करके एक बहुत बड़ा प्रकरण लिख दिया एक सौ कार्यक्रम का जैसे चार प्रकरणों वाला यह ग्रंथ गौरपाधिकारी का संयुक्त बारह मंत्रों वाला उपनिषद मंडक उपनिषद है कारिका किसको कहते हैं प्रकरण का क्या लक्षण है ये सब जानना चाहिए अल्पाक्षर सदी बहुवर्त श्लोकवत्तम कारिकात्म अल्पाक्षर से युक्त होते हुए भी बहुत अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए श्लोकमयी ग्रंथ का नाम कारिका अल्पाक्षर सती बहुवर्थक श्लोकवत्व कार्यक्रम प्रकरण का लक्षण तो आप लोग लघु सिद्धांत को मुझसे ही जानते हैं क्योंकि वहां भी आता ना संधि प्रकरण है संज्ञा प्रकरण है तो प्रकरण का लक्षण तो वहीं से आप अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए कहते हैं शास्त्र गदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरित आहु प्रकरण नाम ब्रह्म भेद विपश्चित शास्त्र ही संबद्ध है संपूर्ण शास्त्र का प्रतिपादन करता नहीं उसका नाम प्रकरण कहा जाता है किंतु शास्त्र का जो मुख्य कार्य सर्वावबोध से भी वह संपूर्ण कार्य का भी निष्पादन नहीं करता किंतु उस लक्ष्य के अनुरूप किंचित अवबोध मात्र कराता है इस शास्त्र कार्यांतरित स्थितम ऐसे ग्रंथ भेद को विद्वान लोग प्रकरण नाम से कहते हैं आहु प्रकरण नाम ग्रंथ वेद विदश्यता और विलक्षणता एक इसमें यह है कि भाष्यकार ने एक कठोपनिषद और मांडव्योपनिषद कठोपनिषद में आपने देखा कि गुरु की महिमा आचार्य परंपरा की महिमा को लेकर जबरदस्त मंगलाचरण था कि जिसके बिना कहते हैं कि ये चीज अनुभव में नहीं आ सकता जो यहाँ पर कहने जाने विधिमुख मुख से आप इस अद्वैत वेदांत का अनुभव करना चाहे चाहे निषेध मुख से अद्वैत वेदांत का अनुभव करना चाहते हैं सर्वम खल वेदम ब्रह्म या नेति नेति मतवा न किंचित भी उत्पन्न में जगती निषेध मुख से आप अनुभव करना चाहते हैं इन दारश अनुभूति के प्रति अति आवश्यक क्या है ये बात को परिषद के मंगलाचरण में प्रकट करने के बाद यहाँ मंगलाचरण फिर दोबारा करते हैं तत्व का बोध कराने के लिए प्रथम मंगलाचरण इनका है विधि मुख वाला है और दूसरा मंगलाचरण निषेध मुख का प्रतिपादन करता है लेकिन आचार्य शंकर के मंगलाचरण में प्रवेश करने से पूर्व उपनिषद का मंगलाचरण बोध शांति पाठ का विचार करें यद्यपि इस मंत्र का दो बार अर्थ विवेचन हो चुका है इसलिए संक्षेप में अब चलते हैं इस उपनिषद के मंगलाचरण काल में ओम भद्रम करण विष्णुयाम देवा ओम व अद्वैत स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का नाम रूपा जो ओम है जो कि सकल मंगल का कारक है मंगलवाची है जिस ओम से ही संपूर्ण जगत ब्रह्मांड अभिव्यक्त हो रखा है ओम में हमारी निष्ठा बन जाए ये तदर्थ भो देवा वयम सदा कर्णवी भद्रमेय श्रयावा हम लोग जो सदा ही इन कारणों से कल्याण प्रद उपनिषद आदि शास्त्रों को ही श्रवण करते रहे भद्रम पश्चिम अक्षभिर जत्रा ये जत्रा तो योजना जो किया जाता है इन सभी के फलस्वरूप को प्रदान करने वाले रक्षा करने वाले यागों को रक्षा करने वाले जो लोग हैं आप देवता लोग इस प्रकार से हम पर कृपा करेगी अक्ष भी सदैव भद्रम पश्चिम अपने चक्षुओं के द्वारा कल्याण प्रभ दृश्यों को हम सदा देखें ऐसी आप कृपा करें हम कहीं भी जाए आधुनिक जो देवियां हैं इनका दर्शन ही होता है है कि नहीं जहां भी जाओ आजकल जहीं भी घुसो बस चढ़ो ट्रेन चढ़ो किसी घर जाओ कहा क्या मिलेगा आधुनिक देवी देवता जो बने हुए हैं जो सिनेमा में नाच गान करने वाले इन्हीं के चित्र लटके हुए मिलते हैं इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है देवताओं से ऐसी कृपा करे हम लोगों का चरण ऐसे घरों में पड़े ही नहीं तो ऐसी देवी देवताओं का दर्शन न करना पड़े किन्तु सदा कल्याण प्रदान करने वाले मंदिर आदियों में हमारा प्रवेश होता कि वहां पर सगुण सागर भगवान का कम सम दर्शन हो बोले निर्गुण निराकार का अनुभव हो गया न हो गई अक्षम के द्वारा इंद्रियों के द्वारा परिदृश्य यदि है तो सगुण साकार ही है वह कल्याण प्रद सगुण साकार का ही सदा दर्शन हो गए ऐसे प्रार्थना करते हैं और स्त्री रंग ही तनुविश्चा तुष्टवान सह वयम देवहित एवा देवहितम यद आय हो व्यशेमा तदे वैदिक यागादि कर्मों में ही हमारा समस्त अंग प्रत्यंग स्थिरता पूर्वक यह शरीर और मनाली जो सुख शरीर ये दोनों ही मिलकर के स्थिर अंगों वाले होकर अपने चांचल्यता को परित्याग करके लक्ष्य प्राप्ति हेतु होता जो यज्ञ दान तपस्या आदि है उनको समय प्रकार से करने में ही और आप देवताओं के हित में ही देवताओं के हित मात्र के लिए ही हमारा जीवन धारण हो मेरा जो आयु है ये विषय विषय ये व्यतीत हो ऐसा देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं ये देवता समस्त देवताओं के लिए सामान्य रूपेण प्रार्थना हुआ और विशेष रूपेण भी प्रार्थना करते जो विशिष्ट देवता लोग जो ज्यादातर हमेशा ही आप ब्रह्म ज्ञान पाने लगेंगे तो अधिकतर यही लोग आते तंग करने के लिए आपने पुराणों में देखा होगा जब एक सौ अश्वमेध कर लग जाते हैं कोई तो इंद्र सबसे पहला आता है कि मेरा पद ही छीन रहा है और अब ब्रह्म ज्ञान हो जा हो करने लगे तो और भी ज्यादा खतरा हो गया उसके लिए वो तो पद ही छीन रहा था तो उसमें व्यवधान डाल रहा है और आप तो उसके स्वरूप ही बनने जा रहे हो पद छीनना एक अलग थी आप स्वरूप ही बन जा रहे हैं अर्थात उसके हाथ का एक बकरा छूटने जा रहा है तो कैसे वो सहन करेगा इसलिए विशिष्ट जो देवता जो हमेशा व्यवधान डाला करते हैं बाधाएं उत्पन्न करते हैं उनसे विशिष्ट प्रार्थना कर रहे स्वस्थ न इंद्रो वृदश्रवा बहुत है श्रव मन यश जस का ऐसा वह इंद्र रूपी विशिष्ट देवता भी विशेषणों से प्रसन्न करना पड़ रहा है यहाँ पर सीधा नहीं करे हैं स्वस्ति न इंद्रा तो नहीं वृद्धश्रवा इंद्र विशेषणों से तो आजकल लोग प्रसन्न होते भी है ना बिना विशेषण का प्रसन्न नहीं होते जब आप सीधा कहेंगे मंच समस्त संतों को ओम नमो नारायण कह रहे क्या महात्मा है पता है क्या प्रवचन दे रहा है ये है आप कहेंगे हाँ आनंद घोषित हो अमुक अमुक ढक्का दुनिया भर विसर्जन दे दो सबकी छाती फूले लग जाते बड़े चौड़े हो जाते हाँ, ये बोला ठीक आज तो विशेषणों के बिना जो है ना ये लो लोक पे विचरता है धर्माचार भी देवता लोग भी भूखे जब हैं हाँ वो देवता को तो क्या नहीं किया इसलिए उसको तो विशेषण देना अति आवश्यक है इसलिए वृद्ध श्रव इंद्रो विशाल है यश विस्तृत है यश बहुत यश जिसका ऐसा वह इंद्र हमारा कल्याण गये हम स्वस्ति दगा तो क्रियापद एक सब जगह जोड़ेगा स्वस्थ पूषा विश्व वेदा पूषम देवदा विश्व व्यक्ति विश्व वेदा पूषा समस्त विश्व का समय प्रकार से जानने वाला ज्ञानवान पूषा देव भी हम सबका कल्याण करें कि यही था बेचारा जिसके दान तोड़ दिए गए थे दक्ष यज्ञ में ये हंसने लगा जब शिव जी का जब दुर्दशा हुआ अपमानित हुआ सती मरी तो बड़ा हंस रहे थे लोग वीरभद्र ने इसका दान तन तोड़ फाड़ कर दिया था एक थप्पड़ जैसा दांत बार आ गए तो ज्ञान का अभिमान जो होता है तो वहां पर यही दुर्दशा होती है यही कहीं ना कहीं से थप्पड़ खाना पड़ जाए इसलिए उसको पिसा हुआ था कहीं हविष दिया जाता है आज के जमाने उसके बाद से नियम बन गया वो तो कैसे खाएगा वो आप सीधे आप बाकी चीजों का अवश्य में डालोगे खा नहीं सकेगा ना बिना जान वाला देवता है ये और आप पढ़ने भी जा रहे वेदांत बनने जा रहे हैं वेदांत बढ़ोगे तो वेदांत हो जाओगे धीरे धीरे तो कहते कि देखो इसे वह जो देवता है वे भी हमारे कल्याण प्रदान करें स्वस्थ नाक्ष वरिष्ठ नहीं अत्यंत तीर्ष गति वाले वह गौड़ भी हम पर इतनी कृपा करे ताकि हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण गति से उस वेदांत को समय प्रकार से ग्रहण कर सके तो महान घातक है जो आपत्तियों के काल में सुवर्ण चरण चक्र जिस प्रकार से आपत्ति को उत्पन्न करने वालों पर घातन कर देता है उसी प्रकार से तीव्र गति से लक्ष्य भेदन कर घातन करने वाले वह गौर भगवान भी हमें उतनी क्षमता प्रदान कर योग्यता प्रदान करें ताकि वे भी हमारा कल्याण कर सकें तो ऐसा सामर्थ्य बुद्धि को हो तो तीक्ष्ण गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें स्वच्छ बृहस्पत हो और अंत में कहते हैं समस्त देवताओं का भी जो गुरु है अवश्य हम सबके गुरु हैं जो वह बृहस्पति हम लोगों को यहाँ पर कोई विशेषण नहीं दिया गुरुजनों को विशेषण की अपेक्षा नहीं होती है वह तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप निर्विशेष है जो निर्विशेष में जाना चाहता है उसको विशेषण की जरूरत क्या है जो सविशेष बने रहना चाहता है अद्वैत द्वैत में रहना चाहता है उसके लिए विशेषणों की अपेक्षा होती है और जो विशेषणों से रहित है और निर्विशेष स्वरूप गुरु होता है वह गुरु कहता है कौन वह बृहस्पति से कोई विशेषण नहीं दिया जा रहा है यहाँ और बृहस्पति जो है ना हम सबका कल्याण करे और वह भी जिस प्रकार देवताओं को ज्ञान प्रदान करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किए हैं उनकी भी कृपा से हमारे भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो इस प्रकार से प्रार्थना किया गया है अब आचार्य शंकर विधिमुख तत्व का कथन करने के लिए मंगलाचरण आरंभ करते हैं प्रज्ञाश प्रधान स्थिर चरण कर व्यापी फिर व्याप्य लोका भुक्ता भोगास्थविष्ठान पुनरपिधिषण धिषण काम कामजन्यान पीता सर्वान् विशेषा स्वपित मधुर भुम मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयम अमृतम अजम ब्रह्म यन्नतोस्मी अजम ब्रह्म यन्नतोस्मी आज जो ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता कौन हूं मैं जो नमस्कार कर रहा हूं मैं ब्रह्म ही हूं ब्रह्म ब्रह्म को नमस्कार करेगा है ऐसे कैसा होगा कहते बात ऐसा है सच्चाई यही है मैं जीव भाव में जो प्रतीत होता हुआ प्रणाम रूपी क्रिया का क्रियावान होकर जो प्रतीत हो रहा हूँ वास्तव में मैं वह ब्रह्म ही हूँ जिसको मैं प्रतीति को लेकर के नमस्कार रूपी व्यवहार का निष्पादन कर रहा हूँ ऐसा प्रतीति हो रही है आपको कैसे पता चला क्योंकि प्रज्ञान प्रता नहीं प्रज्ञानम मैंने ब्रह्मा तस्य अंशु रिवांशु यह स जीवात्मा प्रज्ञानांशु मन जीवात्मा प्रधान ही अपने विस्तार के द्वारा वह जीव अपने वृत्तियों के माध्यम से स्थिर चर निकर व्याप विरलोकान व्याप्य स्थिर मन जड़ तत्व चर मन जंगम स्थावर और जंगम रूपी समूह को व्याप्त करते हुए ब्रह्म का ही अंश है जीव अपना ही विस्तार मान रहा है ये समस्त स्थावर जंगम रूपी जो समूह है उस रूप से व्याप्त होते हुए होकर लोकान मने कैसा लोकान स्थविष्टान भोगान लोकान अत्यंत स्थूल भोग प्रदायक विषय रूपी जो लोक लोक से यहाँ विषय शब्द रूप गंध स्पर्श आदि इन विषयों को भुगतवा जागृत अवस्था का वर्णन किया कि जागृत अवस्था में व्यक्ति क्या कर रहा है स्व से भिन्न स्थावर जंगम रूप अनंत जगत को देख रहा है और इस जगत को इस प्रकार से शब्द रूप रसगंध आर्य के रूप में ही ग्रहण करता हुआ इनका उपभोग कर रहा है भोग करने के पश्चात पुनरअपी पुनः पुनरअपी वह पुनः क्या कर रहा है कहते पुनरअपी धिषणोद्भाषितान कामजन्यान उदभाषितान उद्भाषितान कामजन्यान स्वप्न पदार्थ बता रहे अपनी कामना से जन्य है स्वयं के द्वारा अधिष्ठान भीषणम ने अधिष्ठानम अधिष्ठान स्वयं के द्वारा भाषितान उद्भाषितान प्रकाशितान आत्म प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश क्योंकि बाह्य इंद्रिया नहीं है ना पूर्व में जैसा इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा प्रकाशन कर लिया अब स्वप्न में इंद्रिया नहीं है फिर कौन प्रकाशित कर रहा है दिशा के द्वारा ही जो उद्भाषित है स्वयं जो आपका स्वप्रकाश उसी के द्वारा प्रकाशित है काम जन विषयों को भी पुनरपी पीतवा पुनः उसका भी भोग करके वो भी कैसा है कामजन्य वो भी सर्वान विशेषान विशेष रूप भावी है जगत में जैसा जागृत में आप स्थावर जंगम देखा स्वप्न में भी आप स्थावर जंगमों को देखते हैं लेकिन वह स्विन्न बाह्य यथार्थ रूप ग्रहण करते हो यह स्विन्न बाह्य कामजन रूप ग्रहण कर रहे अंतर इसलिए कहते हैं अपने ही प्रकाश से भाषित होते हुए कामनाओं से जन्य सर्वान विशेषान पीता सकल विशेषों को भोग करके इस प्रकार जागृत और स्वप्न दोनों में ही विशेषों का ही ग्रहण किया अविशेष भाव को ग्रहण नहीं किया कभी उसके बाद क्या करता है स्वपीति सुषुप्ति में चला जाता है वही जा रहा है जो जागृत अवस्था का अभिमानी रूपया था वही स्वप्न का अभिमानी होकर के रहा और अंत में वही स्वपीति सोता है किस रूप में मधुर भूंग मधुर भोग आनंद भोगी होकर के आनंदमय कोष में लीन होकर के आनंद का उपभोग करता हुआ रहने वाला है ये भोजयन नो माया कहते हैं माया भोजन आनंद का उपभोग कैसे कर रहे हैं न इंद्रिया है न मन बुद्धि आदि रह गया तब इसलिए कहते हैं माया भोजन ये सारा जागर स्वप्न सुषुप्ति का वास्तव में माया का द्वारा ही भोग कर रहा है किंतु स्वशक्ति में तो अत्यंत स्पष्ट है कि अविद्या के सिर कुछ है नहीं इस अविद्या के द्वारा उस आनंद को उपभोग करता है माया संख्या तुरीयम माया परिकल्पित माया मैंने अविद्या से परिकल्पित संख्या है जागृत नंबर एक स्वप्न नंबर दो शुक्ति में नंबर तीन और चौथा कल्पित संख्या को लेकर के ही तुरयत्व का व्यवहार कर रहा हूँ अब माया संख्या तुरियम वास्तव में तुरय नहीं है कोई चौथी अवस्था नहीं है ब्रह्म लेकिन अविद्या कर परिकल्पित पूर्वोक्त तीन अवस्थाओं की अपेक्षा से हम व्यवहारिक कथन कर रहे हैं तुरियम कौन है वो परम अमृतम जो निरुद्देश्य है अवक्तांग निरपेक्ष है अवस्था का ही न विशेष या निर्विशेष आनंद आदियों का भी निरपेक्ष होकर के रहने वाला होने से वह परम है जिसलिए वह अत्यंत निरपेक्ष है अतएव वह अमृत है अमरण धर्मा है और जो इस प्रकार से निरपेक्ष अमर धर्म होता है वो क्या है वो अवश्य अज होगा क्योंकि जो मरण धरना है वो अवश्य ही जन्य होता है जो जन्य है वह विनाशी होगा जो विनाशी है वह जन्य जरूर होगा ये नियत व्याप्ति है अनियत व्याप्ति नहीं है यत्र यत्र जन्यतम तत्र विनाशितम यत्र यत्र विनाशितम तत्र तत्र जन्यतम ये जो चीज नियत व्याप्ति अनियत व्याप्तियों में से ऐसा नहीं होता है ना अनियत व्याप्ति विपरीत है एक तरह से तो व्याप्ति होगा दूसरे तरह से व्याप्ति नहीं होता यत्र यत्र दोमहा सर्वत्र बन्नी ये तो देखते हो यत्र बन्नी दो दोमहा कार्यो में विचार है ये नियत व्याप्ति नहीं है लेकिन अनित्यत्व का विनाशित्व का सावयत्व के साथ ये सब चीजों को लेकर व्याप्ति बनाओगी ये सब क्या है नियत व्याप्तियां हैं और इसी प्रकार से अचत्व अमरत्व अव्याशित्व नित्यत्व इत्यादि की जो व्याप्तियां होती है भी नियत व्याप्तियां होती हैं उसी भाव को ध्यान में रखते हुए कहा यद अजम तद अमृतम यद अमृतम तदेव अजम भवती किम तत् यद ब्रह्म तत् उस ब्रह्म को न तो उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं तो ऐसा विधि मुख से जो कह रहे हैं ये विलक्षण जो मंगलाचरण है ये बात को स्वीकार करते हुए कहा जा रहा है कि ये जगत है जगत को हमने अनुभव किया और अनुभव करने के पश्चात स्वप्न में गया वहां भी इस बाह्य जगत के सदृशता और जंगलों को भी अनुभव कर लिया उसको अनुभव करने के पश्चात मैं सो गया सोते होते मैं आनंद का अनुभव किया मैंने जो कुछ भी किया सब माया से ही किया है माया भोजयन प्रयोग किया इसमें थोड़ी और जानने के लिए अच्छा रहेगा इस श्लोक की टीका में जाइएगा आनंद गिरी टीका तरेत अद्वैती विरुद्ध आशंका ब्रह्मणि ये जीव जगदीश्वर सर्व काल परिगम समित नहीं थी कहते हैं यदि अद्वितीय है स्वतः असंसारी है यह ब्रह्म फिर तो वेदांत प्रमाण के द्वारा स्थापित जो करने की चेष्टा कर रहे हो वह उचित नहीं हो सकता क्यों क्योंकि अवस्था त्रय जो जीव है यह कर्तृत्व भोतृत्व विशिष्ट होकर जो अपने आप को स्वतंत्र रूप में अनुभव कर रहा है और उसने अपने अनुभव के अनुरूप स्व से भिन्न स्वकर्म के व्यवस्थापक रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है जीव ईश्वर के बीच जगत नाम का तृतीय वस्तु को स्वीकार करके अनुभव कर रहा है जो इसका आप खंडन नहीं कर सकते यदि यह जीव असत्य है और जगत असत्य और ईश्वर असत्य है ब्रह्म की सिद्धि भी असत्य ही माननी चाहिए ऐसा जब पूर्व पक्षी आशंका कर लगता है तब जवाब में मंगलाचरण के द्वारा स्थापित करने की चेष्टा किया जा रहा है जो यह जीव जगत ईश्वर का अनुभव करता है वह वास्तविक नहीं हो सकता और लेकिन अवास्तविक अनुभव के कारण ही होता इस अनुभव का अधिष्ठान कोई वास्तविक तत्व अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना अधिष्ठान का कोई भ्रांति नहीं हो सकती है कि तो जितनी भी प्रकार के अनुभव भ्रांति आप इस लोक में अनुभव करते हैं इस सकल भ्रांतियों का कारणीभूत अधिष्ठान कोई न कोई अवश्य ही होता है और भ्रांति का विषय कोई जरूरी नहीं हमेशा अन्यत्र अनुभूत ही हो स्वयं परिकल्पित भी हो सकता है जैसे आकाश में कहा सकते हैं जैसे आप कहोगे भाई रज्जु में जो हमने सर्प देखा उस सर्प को मैंने अन्यत्र देखा था इसी प्रकार इस ब्रह्म जगत की भ्रांति कहते हो क्या इस जगत को हमने अन्यत्र अनुभव किया है यदि वो जगत में मिथ्या है तो उस जगत को मिथ्या का निश्चय करने के लिए कोई और जगत सत्य होगा मैंने कहीं अन्यत्र सत्य सर्प को देखा था तय तो रज्जु में जो है सर्प भ्रांति हुई है अतएव कहीं न कहीं अन्यत्र सत्य जगत होगा यदि यह जगत को आप मिथ्या कहोगे तो तब भी जीव और जगत ब्रह्म तीनों तरित्वा सिद्ध होके ही रहेगा उसका निवारण नहीं कर सकेंगे ऐसा कहते हैं तो हम उनसे कहेंगे महाराज यह कोई जरूरी नहीं है सत्य सर्व को देखा हुआ व्यक्ति को ही रज्जु में सर्व की भ्रांति होती हो क्योंकि जो तीनों काल में नहीं है ऐसे आप स्वयं मानते हो उस आकाश में रूप कोई भी नहीं मानता है आकाश में रूप की भ्रांति हुई कि नहीं हुई क्या आप इसके आधार पर कहीं मान लोगे कोई दूसरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी आकाश होगा जो स्वरूप आकाश होगा और इस ब्रह्मांड में अनुभव किया था उसका संस्कार इस ब्रह्मांड में आने के बाद भी रहने के कारण यहां भी मैं आकाश रूप की भ्रांति कर ले रहा हूं ऐसा कोई नहीं है कदापि नाम नहीं मान सकता कोई तार्किक नहीं स्वीकार करेगा क्योंकि किसी भी ब्रह्मांड में जो कोई भी आकाश तत्व करके स्वीकार करेंगे उस आकाश तत्व रूप को कोई भी तार्किक स्वीकार करता नहीं है इसे यह कोई सिद्धांत बना नहीं सकता व्याप्ति नहीं बना सकता अन्यत्र अनुभूत कहीं सत्यत्व अनुभूत वस्तु का ही अन्यत्र असत्य रूप भ्रांति होती है यह कोई नियम नहीं बन सकता है जो कहीं कदापि भी नहीं है उसकी भी भ्रांति हम कर लेते हैं इसमें अनेकों दृष्टान्त से प्रमाण बन जाता है इसी प्रकार यहाँ पर इस भ्रम की सिद्धि में इसलिए कोई दोष नहीं होता है जो कहीं भी अप्रसिद्ध है कहीं भी प्रसिद्ध ही नहीं है ऐसे ही जीव जगत ईश्वर परिकल्पित होकर उस ब्रह्म में सिद्ध करने के लिए यह श्लोक आरंभ किया गया मंगलाचरण को ये बात कह देखिए तदेत अद्वैत विरुद्धता वह जो त्रैतानुभूति जो हो रहा है वह अद्वैत को स्वीकार करने में परस्पर विरोध अनुभव में आ रहा है यदि आशंक्य ब्रह्मणि एवं जीव ईश्वराश्चित ब्रह्म में ही जीव जगत और ईश्वर ये सब के सब सर्वम काल परिगम समृद्धि प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया विरहितम कूटस्तम ज्ञान ज्यक्ति रूप वस्तु प्रज्ञानम प्रज्ञान क्या है कहते प्रकृष्टम ज्ञानम इति प्रज्ञानम प्रकृष्ट ज्ञान का नाम प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान क्या है चिंता प्रकृष्ट ये जन्मादि विक्रिया विरहित प्रकृष्टत्व ज्ञान स्वरूप में प्रकर्षता क्या है वह जन्मादि रहित होने का नाम ही उसकी प्रकर्षता है कूटस्थ है वो ज्ञान उसी का नाम प्रज्ञान है जो जब की रूप ये अनुभूति स्वरूप है नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा कहा नित्य उपलब्धि रूप है मैं उपलब्धा नहीं हूँ यह उपलब्धव्य भी नहीं हूँ मैं उपलब्धि रूप ही हूँ ये निश्चय करना उसे ज्यप्ति कहते हैं अनुभूति स्वरूप कहते हैं महात्मा का नाम रख देते हैं अनुभूति स्वरूपाचार्य नहीं अनुभूति स्वरूपाचार्य हुए हैं महान आचार्यों में से आचार्य हुए हैं तो कहते हैं इसलिए उसी प्रकार जो है प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म यदि श्रूयत श्रुति प्रमाण भी है प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे श्रुति है महावाक्य में से एक वाक्य में इसको स्वीकार किया गया है तस्याम अंश वो मैं रश्मय उसमें जो अंश है अर्थात रश्मियों के समान रश्मि है कौन जीवा चिदाभासा जीव जो चिदाभास है सूर्य प्रतिबिंब कल्पा सूर्य के प्रतिबिंब के सदृश ही है सूर्य एक है अनेक उपाधियों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के जलों में विभिन्न प्रकार से प्रतिभान होते रहता है निरुप्यमाणा बिंब कल्पा ब्रह्मणो भेदेन असंतो भी यदि विभिन्न रूपेण भाषित होने के कारण से भिन्न भिन्न रूप आप निरूपण भी कर लोगे लेकिन वास्तव में वह बिंब भूता ब्रह्म से अभिन्न ही है तेषाम प्रदान विस्तारा प्रज्ञानांश प्रदान प्रदान मने विस्तार तई अपरियाय अशेष शरीर व्यापी भी अपरियायम एवं ये कोई जरूरी क्रम से पर्याय मने क्रम से व्याप्त होते हो ऐसा नहीं एक साथ व्याप्त हो जाओ अपर्याय अशेष शरीर व्यापे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हुए कैसे व्याप्त हो रहे हैं समस्त शरीरों में कहते हैं स्थिर चर निगर व्यापी भी स्थिर मन विचारी चर मन मनुष्यारी देशा निगर समूह तम व्याप्त शीलमे शांत तरी व्यापी भी लोका लोक्यमान विषया शब्द रूप रसगंधादय तान व्याप्य उनको व्याप करके व्यवहार करते विषय संबंधोक्ति यहाँ विषय के साथ संबंध की कथन हुई है तत्फल कथे थी उस फल का भी कथन हो गया समझो भोगा सुख दुख का साक्षात्कार तेषा सविष्टतम स्थूलतमत्तम देवदानुग्रीत बाह्यन्द्रिय द्वारा स्थूलतम क्यों हो गया इसका कोई स्थूल होगा स्थूलतर भी होगा है ये जो भोग है विषय भोग ये स्थूलतम स्तविष्ठम कह दिया स्तविष्ठान किसके अपेक्षा है क्योंकि देवता अनुग्रहित बाहिंद्र द्वारा बुद्धे तत्व विषयाकार परिणाम जन्यतम स्थूलतमत्तम पहले तो देवताओं का अनुग्रह इंद्रियों पर हुआ और इंद्रियों की सहायता से बुद्धि ने उस वस्तु को ग्रहण किया तब बुद्धि और चिन्ह चेतन ने उस वस्तु का प्रकाशन कर दिया ये तीन सीढ़ियां हैं इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त बुद्धि वृत्ति में जो अभिव्यक्त चित्त है वो स्थूल है ये स्थूलता आई छिराभास का हो जाना ही ब्रह्म में स्थूलता और कुछ नहीं वह ब्रह्म इस बुद्धि वृत्ति में प्रतिभाषित जो हो गया और बुद्धि चैतन्य रूप है आपको अपने आप को मान लिया यही इस ब्रह्म के स्थूल रूप हो जाना है और स्थूल रूप हुआ बुद्धि और चिंतित अपने आप में चुप था तो कोई दिक्कत नहीं थी वो इंद्रियों का अभिमान कर लिया और इंद्रियों के तरह विषय की ओर चला गया ये उसकी स्थूल तरता है और अधिक स्थूल हो गया और विषय को जानकर घट ज्ञान वालों नहीं हो ऐसे जब अभिमान कर बैठे स्थूल तमता से प्राप्त कर लिया अत्यंत विमूढ़ हो गया अवतार से ज्ञान का कर्तृत्व अपने अंदर मानता है उस ज्ञान का विषय घटाज का भोक्तृत्व अपने अंदर मान बैठता है एकदर्श कर्तृत्व भोक्तृत्व पर्यंत अवसान के योग्य होता है जो बुद्धि चेतन वृत्ति के गृहित घटादि विषय का ज्ञान का ही नाम स्थूल तमत्तम और कौन हो रहा है ये ज्ञान हो वह निर्विशेष ज्ञान ही स्थूल तम ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर गया यही विवर्त है इसी का नाम विवर्त है जैसे मिट्टी बड़ा घड़ा बन गया ये मिट्टी तो वैसे चूर होगा उसे पानी वानी डाला मथा अपने उसको फिर पिंड बना दिया पिंड बनने के बाद कपाले बन गए उनको जोड़ा घट बन गया घट को पका कर बिल्कुल तैयार कर दिया वही मिट्टी विवर्त होकर इतना स्थूलतम स्वरूप को प्राप्त कर गया लेकिन लंबा चौड़ा घड़ा हो गया उसी प्रकार ब्रह्म ही को कहा जा रहा है स्थूलतम हो रहा है अतएव न कोई जीव सत्य है न उसकी इंद्रिया सत्य है न तद विषय विषय ज्ञान कोई सत्य है तथा मृत का सत्यम कहा गया अंत में वो घट अवस्था में भी वास्तविक सत्यता उस मृत्यु का नहीं है घट में नहीं है इसलिए स्थविष्टत्व कह दिया जनतंतान भुगता स्वपिति के संबंध उन सबको भोग करके उस सोने चला जाता है इसके साथ संबंध कर लेना एक जागृतम ब्रह्मणि कल्पित मुक्ता आ गया इसके द्वारा जागृत अवस्था को ब्रह्म कल्पित है ऐसे स्थापित कर दिया गया तथ्य स्वप्न कल्पना में भी दर्शेती अब उसी में स्वप्न कल्पना को भी दर्शा रहे हैं जागृत हेतु धर्माधर्म क्षय आनंद पुनः शब्दार्थ जागृत गए कारणीभूत जो धर्माधर्म का क्षय क्या अंतर जागृत अवस्था में रहने के लिए जो कारणीभूत तो पुण्य पाप थे जिसको भोगने के लिए जागरूक अवस्था में थे वो क्षीण हो जाएगा तब ना स्वप्न वंच हो गए नहीं तो कई बार ऐसे होता है रात भर नींद ही नहीं आती स्वप्न तो दूर की बात आज को जगह रहना पड़ता है और विशेष गर्मी के दिनों में मिर्ची पर्ची दुनिया भर खा लो माल मसाला मसालेदार चीज नींद कहाँ से आना उसे वैसे बाहर की गर्मी अंदर में गर्मी चढ़ा दिया नतीजा क्या होगा पाप चढ़ा लिया कहो सीधे इसे नींद नहीं आती तो ये कह रहे कि भाई धर्माधर्म का क्षय हुए बिना वह व्यक्ति स्वप्न में भी जा नहीं सकता जागृत योग्य धर्माधर्म क्षय हुआ और स्वप्न योग्य धर्माधर्म जागृत हो गया उदय हो गया तब स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे चती सती अपिना उचित है इसलिए पुनरअपि वो अपिशज्ञ द्वारा यही प्रकट कर रहे हैं जागृति योग धर्माधर्म भले क्षीण हो गया लेकिन स्वप्न योग्य धर्माधर्म का उदय हो गया है न चाह बाह्यान इंद्रिया स्थूला विषय संधि बाह्य इंद्रिया नहीं स्थूल विषय भी नहीं है किन्दो धिषण शब्दित बुद्धियात्मा भीषण शब्द क्या है ना बुद्धिवचन चेतन चिदावास जीवात्मा ये क्या करना है वासनात्मा वासना प्रधान आत्मा इस समय इंद्रियादि प्रधान है ना इंद्रियादि तो छोड़ दिया इसलिए अब वासना प्रधान जीवात्म स्वरूप है और विषया भाषंत उसी आत्मा से वासना प्रधान बुद्धि चिंचेतन्य से भाषित हो रहे हैं तान अनुभूय स्वपिति इसके साथ संबंध होगा लेकिन वासना प्रधान तो जीव बुद्धि चिंचित भाष्य भाषित वस्तु क्या है तेषा प्रापक उपन्यास कामजन्यानिति काम ग्रहण कर्म अविद्योर उपलक्षण अर्थ स्वप्न कारण कर्म उस कर्म का भी कारण कौन है अविद्या अविद्या में ही विद्यमान स्वप्न अनुकूल जो कर्म है धर्माधर्मी कर्म वो उद्भव होते हैं जब वे उद्भव होंगे उससे जन्म क्या होगा कामना होगी आपके अंदर और जैसे जैसे कामना करोगे वैसे वैसे वस्तु का वहां निर्माण होते जाता है जो जो आप देखना चाहते हो आप स्वयं उसको देख रहे हो भले आप यहाँ पर व्यवहार में ये समझ में आता है कि भाई यदि हम ऐसा स्वतंत्र होते फिर हमने बाघ बाघ को क्यों देखा और डर के क्यों जग गए ये तो आप जगने के बाद विवेक करोगे ना जैसे सारा जिंदगी बीत जाए उसके बाद सोता मैं तो गलती किया शादी नहीं किया होता तो अच्छा था <laughs> आप सोच रहे थे क्या फायदा सारी जिंदगी तो बीत गई कई बुढ़े आते हैं यही तो जवान ऐसे नहीं आते कहते आप तो रह गए महाराज आप तो चुप गए उठने आते तो कहते महाराज आप भी बहुत अच्छे हैं आप लकड़े में पड़े नहीं हम दोनों की सुनते हैं और एक बार जैसे प्रसंग आया जो पहले से बोला था आप तो रह गए तो उसी के सामने बुढ़े भी आ गए जब कहते थे आप अच्छे हैं तो मैंने कहा कि देखो आज बहुत अच्छा प्रसंग है अच्छा समय आ गया है कि हम तीनों इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा महाराज क्या बात है कहते बात यह है इस जवान की बात कुछ और ही है आप जो कहते कुछ और कहते हैं और हम जो है सो और ही है समझ में नहीं आ रहा है ना इसलिए आज समन्वय कर सकते हैं हम दो तीनों अपने अपने कथन करें कहते पहले आप बताओ भाई आपने जो कहा ना हम रह गए हम चुप गए तो बताओ किस दृष्टिकोण से तुमने कहा कहते महाराज नो वाइफ नो लाइफ सीधी सी बात है तो तुरंत बुड्ढा क्या कहता है वाइफ इज लाइफ मैंने कहा देखो भाई अब आप ही लोग झगड़ा करो तय करो वाइफ नाइफ है या वाइफ लाइफ है या आपको तय करना पड़ेगा आप दोनों चुप हो गए महाराज आप ही सच्चाई बताओ कहते ना वाइफ है ना नाइफ है ना लाइफ है तीनों ही नहीं है फिर क्या है कभी जो है सो हम है ना हमको नहीं देख रहे हम ही हैं बस और कुछ नहीं